अल्लाह ताला की कसम बिलाशुबा यकीनन आपसे पहले भी बहुत सी उम्मतों की तरफ हमने रसूल भेजे फिर शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को कुछ नुमा बना दिया चुनाचे वही आज उनका सरपरस्त है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है